भले कैसे भी मिले अपने मन में भाव ये हो कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं चंदन लगावे सालक ग्राम पर और ख्याल ये हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं फूल रखे सालक ग्राम पर और ख्याल ये हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो तुम्हारा ख्याल तो बनाना तुम्हारा दिल तो बढ़िया बनाना तो ये दिल बनाने की अध्यात्म के निर्माण की विद्या है ये जो शासन पद्धति को अध्यात्म विद्या को जानते हैं हाँ। जिन्होंने बचपन से इसका अभ्यास किया है सदगुरुओं से सीखा है वेदांत विद्या का अभ्यास किया है हाँ, ये जानते हैं कि अपना आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है इसलिए तार्किक के चक्कर में न पढ़ करके जो आगमा अभिज्ञाचार्य उपनिषद के राज्य को जानने वाला है वो जब बतावेगा कि तुम कौन हो क्रोधा अन्य नहीं सुज्ञानाय प्रेष्ठ देखो ये गुरु का अपने शिष्य पर क्या अनुग्रह है ये प्रेष्ठ जो है ना श्रेष्ठ संबोधन है श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय प्रियता यमराज कहते हैं के साथ यमराज को तो आप जानते ही हो मामूली चीज नहीं है सर्व विशेष निषेधावशेष सब ना ना ना ना नेत नेत नेत द्वारा सब का निषेध जो है ना उस निषेध के रूप में मृत्यु प्रकट है मन सारा विशेष मर गया और विशेष का अभाव अपने सामने प्रत्यक्ष हो गया और वो जिज्ञासु को उपदेश कर रहा है मेरे प्रीतम मेरे प्यारे तुम पहले सबका विशेष करके देखो तुमको कोई कहे कि ये है ये है ये है ऐसे नहीं जो यह मालूम पड़ता है तो मैं नहीं और जो मैं मालूम पड़ता है तो यह नहीं मैं कभी यह नहीं होता और यह कभी मैं नहीं होता यह माने अनात्मा और मैं माने आत्मा और ये जो सब अनात्माओं से अलग किया हुआ मैं है आत्मा है, है इसको प्रोक्ता अन्य नहीं है प्रेष्ठ जब कोई कहेगा तत्वमसी अरे वो निषेधावशेष वो दृष्टा पुरुष वो साक्षी वो ज्ञान स्वरूप वो आत्मन तू इस देह में नन्ना मुन्ना नहीं है वस्तु संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान अद्वितीय साक्षात ब्रह्म है जब इस प्रकार आचार्य बोलेगा तो सुज्ञान आय प्रेष्ठ बहुत जल्दी समझ जाओगे तब बोलो तब पहले निषेध कर लो निषेध करने के बाद गुरु ने कहा कि तुम अनंत अद्वितीय ब्रह्म हो तो अब तुम तर्क करो कि नहीं महाराज मैं तो शरीर सारे दिन हाथ का मैं ब्रह्म कैसे तो कहेगा बेटा अभी निषेध नहीं किया तुमने ये साढ़े तीन हाथ की लंबाई चौड़ाई जिसमें कल्पित है वो देश पहले उसका निषेध कर लो देश की कल्पना का निषेध कर दो तुम ब्रह्म हो बोले महाराज हमारी तो उम्र सौ पचास वर्ष की हम भला अनादि अनंत ब्रह्म कहते तो बोले बेटा ये शरीर जो है ना जिसकी आयु सौ पचास वर्ष की होती है पहले तुम अपने को शरीर से अलग समझो तो ये सौ पचास वर्ष में मरने वाला शरीर तुम नहीं हो तुम इसके साक्षी हो और तुम साक्षी रूप से ब्रह्म हो बोले महाराज हमारा वजन तो डेढ़ मन दो मन ढाई मन है ना हम बना ब्रह्म कहते कहीं ब्रह्म दो ढाई मन का होता है, है? तो बोले नहीं ये दो ढाई मन का जो देह है ये दृश्य है तुम इसके दृष्टा हो वो दृष्टा पुरुष वो साक्षी पुरुष अरे तू ये ढाई मन में बना हुआ नहीं है तू तो अनंत ब्रह्म है बोले महाराज हम आंख वाले कान वाले नाक वाले जीव वाले हैं हम मन वाले बुद्धि वाले हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाले हम ब्रह्म कहते बोले अरे इनका साक्षी तू ब्रह्म है बेटा है ना तो ये जो अपना आत्मा साक्षी रूप है उसको जब ब्रह्म गुरु बताता है ना प्रोक्ता अन्य नहीं वह जाना या प्रेष्ठ जब गुरुदेव इसको बतलाता है ना ये अभिमानी लोग गुरु वर्ण नहीं करते हो अभिमानी का एक लक्षण है दो बात समझो इसको प्रोक्ता अन्य नहीं वह जाना या प्रेष्ठ बोले भाई तुमने आज तक ग्रुप क्यों नहीं बनाया बोले हमको हमसे ग्रुप की कोई मिला कहा आप तुम्हें अपनी योग्यता का ज्यादा एहसास है बोले भाई तुमको दुख होता है कि नहीं तुम्हारे मन में जलन होती है कि नहीं तुम अपने को अज्ञानी समझते हो कि नहीं तो इससे छुड़ाने वाले की तुमको कभी जरूरत मालूम पड़ती है कि नहीं कोई मददगार नहीं है तुम्हारा असहाय पड़े हो इस अज्ञान अंधकार में इस अज्ञान अंधकार में असहाय पड़े हो तुम तुमको निकालने वाला कोई नहीं इस अज्ञान अंधकार से और तुमने इतना बड़ा अभिमान कि हमारी इस अयोग्यता को मिटाने वाला कोई योग्य पुरुष नहीं यह तुम तो नदातम की नान वा ये कई विपरीता थे बुद्धि आचार वर्जिता वाल्मीकि रामायण में महाभारत में विष्णु पुराण में महाभारत में इसको कई जगह यह संतो नवासंती क्या तुम्हारे गांव में कोई संत नहीं है ये संतो नवासंती महाराज होंगे लेकिन हमको तो किसी के पास जाने की रुचि नहीं होती तो ठीक है इसी की तो ये पहचान है जो संयम विपरीता से बुद्धि आचार वर्जिता इसी का तो ये फल है कि तुम दिन भर जलते रहते हो है ना किसी से घृणा करते हो किसी से द्वेष करते हो कभी गिलानी करते हो है ना कभी अभिमान से मरते हो और कभी गिलानी से मरते हो ये जो तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख दुख ही दुख दिखाई पड़ता है इसका कारण क्या है जो तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को लखा देता उसके बाद तुम नहीं गए प्रोक्ता अन्य नहीं सुज्ञानाय प्रेष्ठ हे प्रियताम हाँ, हे प्रेष्ठ अतिशय न प्रिया प्रया प्रया प्रियतम प्रेष्ठा श्रेष्ठा हे प्रेष्ठा यदि तुम अपना भला चाहते हो सुख चाहते हो तो जो तुमको बाकी बता रहे उसके है ना उसका संपर्क करोगे तो और ग्लानी आ जाएगी तुम्हारे तो रोज रोज रोज रोज तुम यही बोलते रह जाओगे कि मैं मूर्ख मैं मूर्ख कलकामी मैं मूर्ख कलकामी नहीं तो तुमको राजीव द्वेषी बना देगा बारसी बंदी में डाल देगा तुम्हारे दिल में आग डाल देगा जलन डाल देगा ऐसा ऐसा भाव डाल देगा कि तुम दूसरे को देखोगे तो तुम्हारा कलेजा जलने लगेगा ऐसे आदमी के पास तुम बैठोगे हम जानते हैं जिसके पास बैठोगे फिर जिसके पास जाके बैठोगे तुम्हारे दिल में लाके आग लगा देगा डाल देगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा मालूम पड़ेगा हमारा बड़ा हितैषी है और दिन भर तुम उसकी आग करके जलते रहो वो तो आग लगा के रवाना हो गया रफू चक्कर हो गया है ना अरे बाबा ऐसे आदमी के पास बैठो जो तुम्हारे दिल में लगी आग को बुझा दे जो तुम्हारे दिल में लगी मैल को धो दे जो तुम्हारे दिल पर पड़े हुए पर्दे को फाड़ दे जो तुम्हारे दिल में आए हुए अज्ञान अंधकार को निवारण कर दे संग करना तो ऐसा करना वो तो देखो वो बुद्धि कौन सी है तो बुद्धि वो है मैंने तुमको वर दिया है ना वर्ष मेरे बर देने से जो तुमको सत्य धृति प्राप्त हुई है तुम सत्य धृति हो गए सत्य धृति मैंने पकड़ कहा पकड़ की बात सुना है जैसे हम व्याख्यान दे तो पांच हजार शब्द बोला तो गच्छतस कदन को आदि भवत जब आदमी रास्ते में चलता है तो कभी उसका भाव फिसल जाता है ये नहीं कि रास्ते में आदमी चले और पांव न फिसले है ना हम लोग तो नारायण गांव में पाँव कच्ची कच्चे रास्ते पर चलने वाले हमको पचासों मरतबा गिरने की याद है ना बम्बई में भी रास्ते पर फिसल के गिर पड़े हो हाँ। और उत्तर काशी में भी रास्ते पर फिसल के गिर पड़े जो रास्ते में चलता है उसका काम कभी फिसलता है कभी गिर भी जाता है शब्द तो जो बोलता है उससे अशुद्ध शब्द भी निकल जाता है तो एक आदमी बैठा पांच हजार शब्द बोले महाराज एक शब्द आपके उससे से एक कैसे निकल पकड़ लिया वृद्धि कहाँ हुई और सब भूल गया देखो कई बार फलान भर के बचपन में है ना एक बात करे वहाँ चले गए और इतने बड़े वजन किसी के खाते रहे ऐसा श्लोक बोल दिया ऐसा बना दिया तो हमारे एक साथी उनको याद नहीं उनको ये याद है कि अमुक समय में एक श्लोक बनाया था ना तुमने तो सुनो वो गलती हो गई थी है ना वो गलती उनको याद है तो मनुष्य की स्थिति कहाँ है हम ये सच्ची घटना आपको सब सुना रहे हो तो बात नहीं आप क्या पकड़ते हैं एक आदमी ने आपकी हजार बार तारीफ की है एक बार अगर उसने उसके मुंह से कोई निंदा की बात निकल गई तो आपको तो बढ़ जाती है वो याद रहती है आपकी त्रुटि कहाँ है अरे आपकी पकड़ कहाँ है है ना आप कौन सी चीज पकड़ते हैं प्रश्न तो ये है तो जब तक मनुष्य ये नाम रूपात्मक प्रपंच की असत्य वस्तुओं को असत्य नामों और असत्य रूपों को पकड़ने में संलग्न है तब तक वो सच्चा जिज्ञासु नहीं होता सच्चा जिज्ञासु तब होता है जो वो संसार के नाम और रूप की पकड़ छोड़ करके जो उसमें अनुस्वी अनुस्यूत अन्वयी व्यतिरे की है ना और अन्वय व्यतिरे का भी जो तत्व है उस तत्व को पकड़ने की बुद्धि आवे हम तो सच को पकड़ेंगे हो सत्य को पकड़ेंगे हम जानेंगे कि हमारा आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है अमुक शेख के पास कितना पैसा है ये जानने से तुमको शांति नहीं मिलेगी अमुक की बहु बेटी कैसी है ये जानने से तुमको शांति नहीं मिलेगी अमुक आदमी ने जिंदगी में कितनी चोरी की है ये जानने से आपको शांति नहीं मिलेगी जब आप जानोगे कि संपूर्ण नाम रूप के अंतराल में क्या अमृत की धारा बह रही है आनंद की धारा बह रही है सब चित्त की धारा बह रही है सब भी अंतराल में अपना आत्मा ब्रह्म रोग पर व्याप्त है जब आप जानेंगे तब शांति मिलेगी अच्छा मनुष्य की कृष्ण सारी संभावनाओं पर ध्यान करके अपने अन्य कार्य परिपूर्ण है एक एक रस ये सर्व विचार करते जो कभी रात के पीछे चलता है कभी नाक के पीछे चलता है कभी दीप के पीछे चलता है कभी हाथ पाँव के पीछे चलता है कभी मशीन के पीछे चलता है ऐसे शासक विकल्प के द्वारा नीच आत्म सत्या सत्य का आत्म विद्या का सदन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता ये ब्रह्म विद्या केवल तर्क से नहीं प्राप्त हो सकते जितना तुम प्राप्त सकते हो निषेध कर सकते हो उसका निषेध कर लो और जो सबका साक्षी उपस्थित ऐसा तो बचा उसको वेदांत ने बताया कि ब्रह्म है उसके आकार विचार में कोई परिवर्तन नहीं होता ये बात बताई कि क्रोध का अग्निनो एवं सुज्ञानाय प्रश्न जब संजीव ने सत्यमत्यादि महावाक्य के द्वारा उपदेश किया कि जो सत्ता साक्षी है है जागृत स्वप्न सुसुप्ति का साक्षी है एक अर्थ है सुदस्त है यही ब्रह्म इसमें किसी प्रकार के नाम का आरोप नहीं है प्रियता तुम तुम्हारे घर जाए हो इसलिए ये रहस्य तुमको बताते हैं कि आत्मतत्व के संबंध में तर्क वितर्क के चक्कर लिए सदगुरु की आवश्यकता है और ऐसी बुद्धि जो तर्क से नहीं मिलती वो तुमको मिल रही है ज्ञान स्वभाव सत्य से आदि अनुकंपा जैसे अनुकंपाया क्षेत्र में तुम्हारी योग्यता देखकर तुम्हारी स्थिति देखकर हमारा हृदय दया से प्रेम से भर गया है ईश्वर और सदगुरु उनके प्रत्येक क्रिया में प्रीति ही प्रीति होती है प्रेम से देखो तुम असल में ईश्वर को पहचानते नहीं रत्नाकर समुद्र तो इनका आज ससुर है और गिरिराज उगले हरि चंद्रमा इनका साला है लक्ष्मी इनकी गति है और लक्ष्मी इनकी पत्नी है रत्नाकर इनका आज ससुर है कौशिक मणि इनके कंठ में है कर्म वृक्ष से संकल्प से उदय हुआ फिर भी निकले के काम करते हैं इनमें इनका उलग्र अनुग्रह जिसका काम हो उसको अपना समझते हैं काम तो उसका होता ही है उसको इतना अपना समझते हैं उसके ऊपर इतनी करुणा करते हैं कि उसकी छोटी से छोटी भेंट स्वीकार भी करते हैं तो तिरुपति बाला जी की क्रिया में वो समझने को उनका जो अनुग्रह है स्प्रिया न होने पर भी आवश्यकता न होने पर भी तृष्णा न होने पर भी कोई कामना न होने पर भी भक्त वास्तव्य कारण के कारण वो अपने भक्त की पूजा स्वीकार करते ये उनकी कृपा है अनुग्रह लोग अनुग्रह अनुग्रह को समझते हैं एक बार की बात है मैं एक महात्मा के साथ था वहां से थोड़ी दूर पर एक मेरे प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं मेरा मन हुआ जाने का कि तो उनका दर्शन करें तो उन्होंने मना कर दिया बोले मत एक साझे में समझाया कुछ नहीं हो तो मना कर दिया तो मन में क्षोभ हुआ फिर मैंने जुट्टी निकाली कि घर जाने के लिए छुट्टी लें इनसे और फिर रास्ते में चले जाए तो उन्होंने घर जाने के लिए छुट्टी दे दी लेकिन उसके साथ एक ऐसा काम बता दिया जिससे हम कल घर जरूर पहुंच जाए तो रास्ते में जो दर्शन करने वाली जुट्टी थी ना वो बेकार है थोड़े दिनों के बाद तो अपने मन में विचार हो रहे तो उन्होंने हमको वहां जाने से मना किया तो उसमें उनका अनुग्रह था एक श्रद्धा के मार्ग पर चल के एक जल पूजा करके है ना भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन के लिए हम है एक यात्रा कर रहे थे और वे महात्मा को बड़े करते है उनके पास जाते तो जाने क्या उनके मुंह से निकल जाता है तो जिस ढंग से वो हमारे जीवन को गढ़ रहे थे हमारे हृदय का निर्माण कर रहे थे उसमें बाधा पड़ जाती उनका कोई स्वार्थ नहीं था उनका अनुग्रह था आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस रामकृष्ण से कहा महाशय राजा भरत की आसक्ति हो गई थी हरित से तो उनको तीन जन्म लेना पड़ा और आपकी आसक्ति हो गई मुझसे तो कहीं आपको भी जन्म लेना पड़ेगा बड़ी प्रीति हमसे कह रहे हैं जिसके उत्तर में परमहंस जी ने कहा कि नरेंद्र नरेंद्र ही नाम है तुम हमको ईश्वर का रूप मानते हो केवल अवस्था से हम जान अंधेरे में लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि तुम ईश्वर स्वरूप हो और अपने साक्षात अपराध अनुभव से कि परमात्मा के सिवा है न मैं हूँ न तुम हो न ये है न वो है परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं तुम स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो आसक्ति का क्या हुआ जब पहले तरह किसी से प्रीति करता है तो जिससे प्रीति करता है वो तो ईश्वर है वो तो उसका आत्मा है उसका स्वरूप है तो प्रेस मेरे परम प्रियतम आत्म स्वरूप को नचिकेता जो बुद्धि तुम्हें मिली है वो तर्क वितर्क से नहीं मिलती वो जन्म जन्म में सत्कर्म का अनुष्ठान करने से ईश्वर की कृपा होने से सदगुरुओं का प्रीति भाजन वास्तव भाजन होने से वो गति मिलती है वो तर्क वितर्क से ज्यादा पीछे नहीं मिलती है और हाँ, तुम्हारी बुद्धि सबसे वृद्धि है सबसे वृद्धि का अर्थ क्या होता है वृद्धि तो आपने गीता में ही होगा तीन तरह की बुद्धि है राजनीति राजनीति हाँ। कृत्या जया था थे मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेराज्यधिकारिण्या प्रतिष्ठापात्र प्राप्त जिससे मन प्राण और इंद्रिय की क्रिया को हम अपने काबू में रखें ये सात्विक पुरुष का रक्षा है आदमी को जब क्रोध आता है तो अपने दिल के वेग को वो रोक नहीं सकता है ना छिपा नहीं सकता है छह महीने बारह महीने से जो हो दिल में भरी होगी बात रोज रोज से भरे है मुंह से निकल जाए अरे हम लोग को तो क्रोध समझते हैं क्रोध जानते हैं जो क्रोध आता है तो बात निकल तो स्मृति उसको कहते हैं कि जिसमें मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया योग के द्वारा अभ्यास के द्वारा अपने काबू में कर लिया जाए और स्मृति यही न हो है ना तो ये तो सात्विक वृद्धि है राजनीतिक और सामाजिक वृद्धि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि हम तरह तरह की स्थिति की व्याख्या करने के लिए तो आपके पास नहीं रहते परंतु यहाँ जो धृति है ना सत्य धृति सात्विक वृद्धि से विलक्षण है कामत से भी विलक्षण राजस से भी विलक्षण और मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को अभ्यास से धारण करने वाली जो वृद्धि है उससे भी विलक्षण वृद्धि मारे धारण करने की शक्ति हो वो क्या है यहाँ विलक्षण का क्या है क्रिया को धारण करना नहीं है ये तो सत्य को धारण करना है सत्य क्या है वो बुद्धि तो तुम्हें प्राप्त हुई है जो सत्य को धारण करे तुम सत्यव्रती हो तुम्हारी बुद्धि के देश में सत्य आ गया तो लोगों जरा अनुमान होता है कि तो हम बड़े चाहतेदार हैं कोई कोई तो दूसरे का तिरस्कार करते तुम झूठ बोलते हो मैं तो अच्छा ईश्वर कृपा से ऐसा अभिमान होना भी अच्छा है लेकिन केवल सत्य ही गुण नहीं होता दूसरे का अपमान न करना भी एक गुण है हाँ उसको भी तो ध्यान देना चाहिए तुम तो एक गुण में फंस गए पूरा मुल्क हो गया मेरा तो होगा तो हो मैं दूसरे का तिरस्कार करने वाले हम सत्यवादी हैं सत्यवादी अच्छा, है हो तो बहुत अच्छा। ईश्वर करे तुम बड़े हो परंतु तुम्हारे भाषण के साथ साथ ये पूछना है तुमको सत्य का ज्ञान है जिसका तुम भाषण करते हो तुम सत्य को पहचानते हो तुम तो दूसरों के बहकाने में आ गए हो दूसरों ने भड़का करके जो तुमको सत्य समझा दिया उसको तुम सत्य समझते हो अरे नहीं नहीं हम किसी को नहीं सुनते हैं अगर तुम सुनते हो आज की धुन सुनते हो चाल की जीव की नाद की त्वचा की है ना और ये वासना वासित मनी राम की सुनते हो है ना इन्होंने तो एक शब्द को पांच तरह का त्याग तुमको रख दिया काम कहता है सत्य है आप कहती है रूप है प्रजा कहती है स्पर्श है नाक कहे कि गंध है जीव कहे हर है एक ही सत्ता को पांच ढंग से फाड़ फूट करके इन्होंने तोड़ फोड़ करके रख लिया और तुम इनकी बातों को सच मानते हो इनको इनके बैठाने में आ गए तुम सत्य विरोधी कहा हो पहले सत्य को समझे हो तो। जब तुम्हारे मन में कृष्ण की वासना है तो आपको तुम ईश्वर ही नहीं मानते हो मन ने तुमको बताया है कि नहीं और तुम्हारे मन में राम की वासना है तो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हो शिव की वासना है तो विष्णु को ईश्वर नहीं मानते विष्णु की वासना है तो शिव को ईश्वर नहीं मानते तो तुम्हारे वासना वाले मन ने तो तुमको पहुंचा दिया है तुमको सत्य का ज्ञान ही नहीं है तुम सत्य धुति कहा गए जिसमें भी गुण है वो बात अभी संघ से नहीं कहते हैं एक ने कहा मेरे भाई ये तो शिव शिव को छोड़ करके विष्णु विष्णु बोलते ही नहीं एक ने कहा कि भाई ये तो विष्णु विष्णु छोड़ के शिव शिव बोलते ही नहीं दोनों है पंक्ति है अरे नहीं पंक्ति मत कहो भाई है ना सती स्त्री तो वही है जो पुरुष का स्पर्श नहीं करते तो जिसके हृदय में शिव की भक्ति है वो अपनी शिव को शिवाकार रखे जिसके हृदय में विष्णु की भक्ति है वो अपने हृदय को विष्णाकार रखे जिसके हृदय में राम भक्ति है राधाकार रखे जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है कृष्णकार रखे ठीक है इस भक्ति से राम कृष्ण विष्णु शिव गणेश शक्ति सूर्यादि उपाधिक परमात्मा है उस परमात्मा की प्राप्ति में मदद मिलेगी लेकिन सत्य कौन है तो सत्य वो परमात्मा है जो सबके भीतर एक है जो प्रकृति के विकार से विकृत नहीं होता और जो तुम्हारी यातना के संस्कार से संस्कृत नहीं होता जो अंतर है हरिकत सत्य माने अंतर जो हरिकत जगह प्राप्त है जो हरिकत जगह प्राप्त न हो हैं उसको कैसे दे रहे हैं क्या है अभी तक विषयाकृति सत्य तो सत्य धृति तुम्हारी गति कहाँ है तो अभी तक विषय में नदी है जो वैज्ञानिक को प्राप्त नहीं होता ये दुनिया बहुत दिया है ना तो हमने तो एक फूल देख कई फूल ऐसे देखे हैं जो चलना करते थे और चला हुआ तो लाल और सुझा हुआ तो नीला ये कई फूल है जब खिला करते थे जब थोड़ा बहुत हुआ तो लाल और उठने के समय तक नीला कर गया उसका कौन कारण है स्कूल का बताओ वो तो बहुत किया है जो विकट न होंगे है ना अच्छा बाल काले होते हैं कि सफेद होते हैं ये बुरे होते हैं कि सुनाले होते हैं अरे ये तो अनेक रूप है भाई इनमें क्या कहते है ये इंद्रियों से जितना संसार जितनी सृष्टि मालूम करती है ये केवल प्रकृति मात्र है अपना नाम बदलती रहती है हाँ, अंग्रेजी में इसका नाम कुछ तो हिंदी में कुछ तो तमिल में कुछ तो तेलुगु में कुछ तो है ना जर्मनी में कुछ तो रशियन में कुछ तो चाइना में कुछ तो। और नाम क्या है ये देश देश में नाम बदले जाति जाति में नाम बदले बारह बारह पोस्ट में तो अपना नाम बदल रहे और छह छह में छह छह में अपना रूप बदल रहे इनका नाम सत्य है ये तो सब जैसा विकल्प है जैसा जीतते हैं वैसा इसका स्वरूप नहीं है अपने इंद्रियों के संसार को जैसा तुम देख रहे हो वो इसका स्वरूप नहीं है अगर उनमें से किसी एक रूप को पकड़ लोगे तो तुम विकल्प को पकड़ोगे जैसा वो नहीं है उसको पकड़ोगे जो उसके अंदर एक रस तत्व तत्व है उसको पकड़ो सब मालूम करे तो जमराज साथ की प्रशंसा करते हैं हाँ, मेरे प्यारे साथ सचमुच मन यह होता है कि सारा तत्व ज्ञान तुम्हारे ऊपर हो हैं क्योंकि तुम सत्य को पकड़ते हो सबसे प्रति हो द्वादन वो पूजा नदी तपस्या नचिकेता तुम्हारे तरीका पूछने वाला सृष्टि में कौन मिलेगा न बेटा मिलेगा न चेला मिलेगा तुम तो सचमुच सत्य के सत्ता हो लोग सत्य के बारे में प्रश्न नहीं करते हैं प्रश्न करते हैं हमको सुख कैसे मिलेगा से बात सच्ची हो गई है ना हो तो सच्ची लेकिन उसको खोल देने से तुमको कष्ट होता हो कब होता हो तो तुम उसको खोलने के लिए राजी हो कि नहीं तुम सत्य के प्रेमी है बात तो सच्ची है लेकिन खुल जाने पर तुम्हारे रुपए के बारे में थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो बात तो सच्ची है लेकिन लोग में तुम्हारी कोई नहीं हो जाएगी बात तो सच्ची है लेकिन आजकल को रोटी नहीं मिलेगी बोले चुप रहो चुप रहो सच को मत खोलो ऐसा तो सत्य का पहलू तो बहुत है प्रेम का तो ये मतलब होता है ना कि जो अपने चिंतन के साथ बंधन उठाने को कष्ट उठाने को तैयार है अपने प्रीतम के साथ रहे ये प्रेम का मतलब है अपने प्रियतम के साथ रहना मिले और उसके लिए चाहे जितनी तकलीफ उठानी पड़े सहने को तैयार है हमें उसको प्रेमी मिले तो तुम सत्य के साथ रह करके जब इंद्रियों का भोग छूट जाए मन की वासना पूरी न हो तुम्हें उनका सिंहास न मिले लोक में बदनामी हो जाए तो कहने को तैयार हो बोले नारायण कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न करता है तभी फैल जाते एक बार एक बार किसी को समझाई और उसको समझ समझने की कोशिश की और समझने में जो अड़चन आई सचमुच तो समझते समय जो अड़चन आई या समझ जाने पर जो एक बात समझ जाने पर जो दूसरा प्रश्न था उसका अगला प्रश्न था सब मालूम करता है कि इसने समझने की कोशिश की है और उस बात को समझने में जो असली अड़चन है उस पर तो नजर ही नहीं जाती है या उसको समझ लेने के बाद जो तो दूसरा तरफ सोचता है वो तो नहीं कभी कभी लोगों को ऐसा ख्याल हो जाता है हम समझ गए समझ गए समझ गए अरे समझ गए माने हाँ। तुम्हें समझ की जरूरत नहीं है समझ गए माने ये होता है तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो स्वस्थ हो है ना हर समय समझने की कोई जरूरत नहीं है तो नचिकेता नचिकेता से लिखा प्रश्न करता और दर्शन है हमारा गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं सची बेटा तो हमसे भी एक कदम आगे हैं जितना वैराग्य तुम्हें है हमारा काम तो इससे कम वैराग्य नहीं चल गया था तुम तो बड़े त्यागी बड़े तपस्वी बड़े विरक्त हो जानाम्यहम सेवतिरित्य नित्यम नश्यत्वै प्राप्य भेज ध्रुवं तो मया नाचिकेदर्शितो अनित्यैर्द्रव्यैरापवानस्यम् कामस्यास्तु जगतः प्रतिष्ठाम् कृतोरनन्त्यम् अभयस्यतारम् स्तोमहदुर्गायम् प्रतिष्ठाम् ग्यारह हम सेवा विदित यानी प्यार मैं जानता हूँ ये दुनिया के खजाने श्रीमती माने खजाना जगह कहने हम जाना नहीं तुम जाना नहीं जीवन जरूर से अहित्या गीता दुनिया में जिसको खजाना कहा जाता है वो अनित्य है देवनी कहते हैं उसको जो अपने सुख के संबंध में अलग रूप हो गए ये कल्याण है कल्याण अवधि जिसके बारे में हम सोचें कि वाह वाह इससे हमारी बहुत भलाई होगी देवती सोचते हैं जिसमें लोग है सेवरी है सेवरी खजौड़ा है निधि लेकिन कितनी भी निधि प्राप्त हो जाए संसार में बस तो एक कहानी रह जाएगी बोला आप कभी दक्षिण में गए हों जिसने रामेश्वर का मंदिर बनाया ने मधुरा मीनाक्षी का मंदिर बनवाया सुंदरम का श्री रंगम का मंदिर जिसने बनवाया करोड़ों रुपए खर्च किए मुहरे में उन दिनों गिनती होती थी बारह लाख मोहर लगती है सत्रह करोड़ मुहरें लगी अब उनकी कहानी सुनने को मिलती है न वे रहे न उनका कुछ रहा ये जो इसको इकट्ठा करने में लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं वो अनित्य है वो संसार में जहाँ जहाँ सुख मालूम पड़ता है भी रोग भय बहुत भोग करोगे रोग होने का डर उन्हें चेती भय पंच का अभिमान करोगे तो कोई पंच का नाम डूबो न दे ये भय रहेगा जितने निर्वाणान है जितने चंदा है बहुत डर है जोर का डर है राजा का डर है मौनी बन जाए तो हाय हाँ हमारा काम कैसे चलेगा का करते हैं मौने सही चले रिपू भैया डर है तो दुश्मन का डर है रूपे जराया गया सौंदर्य हो तो बुढ़ाता आने का डर है उसने गिराया शास्त्र बाद है शास्त्र का ज्ञान ज्यादा हो तो वाद विवाद का डर शास्त्र बाद है गुणी है गुणी है तो दुष्टों का डर है जो नीचे गिराने की कोशिश न करें गाय दुर्गांतान शरीर पर तो जमराज का भय सर्वम वस्तु भयात्मकम भूमि परिणाम वैराग्य देवालय संसार की सभी वस्तुओं में भय लगा हुआ है केवल वैराग्य ही निर्भय है केवल वैराग्य ही निर्भय है नहीं तो संसार ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भय न हो ये जिसको लोग खजाना बोलते हैं ये तो देखो एक तो हमेशा रहने वाला है दूसरे हम तो उससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करता क्या आश्चर्य हम चैतन्य है वो जड़ है ये तो पागल से प्रेम हुआ पागल से प्रेम गांव में एक आदमी कुत्ता डाला कुत्ता बड़े प्रेम से बहुत दिनों तक बड़े शौक से पाला उसका ख्याल था कि हमारा पहरा देगा गोली रात को नहीं जब चोरों को चोरी करना हुआ तो वो दिन में कहीं आस पास आ गए और कुत्ते को गुड़ खिला गए और वो ऐसा पहचान गया कि वो रात को आए चोरी करके दे गए और कुत्ते ने मुंबई में वो तो पूछ रहा था राम के साथ कि ये वही गुड़ खिलाने वाले हैं गुड़ खिलाने वाले हैं ये पैसा किसी दुकानदार को नहीं पहचानता है कि ये मालिक हमारा है ये चांदी ये सोना ये तो सब दुकान बराबर जो साहूकार बराबर राजा प्रजा बराबर सच्चे झूठे बराबर ये हमेशा रहने वाला नहीं है तुम उससे इतना प्रेम करते हो वो तुम्हारे प्रेम को पहचानता नहीं है तुम्हारे हाथ में आके उसको कोई मजा नहीं आता प्रेम करते हो वो तुम्हारे प्रेम को पहचानता नहीं है तुम्हारे हाथ में आके उसको कोई मजा नहीं आता और अभिमान लेके तुमको धोखे में डालता है हम जानते हैं ये संसार के सारे खजाने अनित्य हैं नैय ध्रुव ही प्राप्य ध्रुवम का करो वो जो परम सत्य वस्तु है अध्रुव वस्तुओं से प्राप्त नहीं होती अध्रुव माने अनित्य अनित्य वस्तु से कोई चाहे हम नित्य को प्राप्त कर लेंगे एक सज्जन गए अमेरिका तो उनको मशीनी दिमाग दिखाया गया मशीनी मस्तिष्क कैसे काम करता है अब तो मशीन से मस्तिष्क का बहुत अधिकांश तो नहीं लेकिन मस्तिष्क के कई पुर्जे और मशीन से बना दिए गए सब बहुत पुर्जे हैं अगर मस्तिष्क में तो दस लाख तक के पुर्जे मस्तिष्क के विज्ञान के द्वारा बना दिए गए और अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे हैं तो किसी ने बताया बताओ हाँ मेरी गाँव में हमारे मित्र को देखो हम लोगों ने ये ऐसा बढ़िया मस्तिष्क बनाया है मशीन का तो वो बोले कि हम ये बनाए हुए मस्तिष्क की तारीफ नहीं कर रहे हैं हम तो वो जो ईश्वर का बनाया हुआ मस्तिष्क है जिसने इसको बना लिया जिसके रहस्य पा लिए इसको खोल लिया इसको बना लिया अब उस सदस्य की तारीफ करना प्रशंसा तो करने योग्य कौन है वो एक हमारे मित्र हैं अभी कलकत्ते में रहते सज्जन ने मुझे पूछा अब तुम बताओ तुम्हारे लिए पाई जाती है ना खरीदते हैं अमेरिका में जितनी है उतनी हमारे देश में नहीं है हमारे देश की सब चीजें हमें जाएंगे पर हमारे देश में एक ऐसी चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती तो जितना अभी संपन्न हो रहे हैं ना के लगा दे एक महात्मा को तो जीव करे और ब्रह्म ज्ञान से कहा कीर्तनी लोग वृंदन यहाँ नहीं सिखा सकते हो हमारे देश में ब्रह्म विद्या है हमारे देश में ब्रह्म विद्या की जानकार संत है महापुरुष है वो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते वो तुम्हारे देश में नहीं है हमारे देश की विशेषता जो तो है वो भौतिक विज्ञान की उन्नति में नहीं है आत्मज्ञान के साथ हम पहचानते तो हैं इन अनित्य वस्तुओं से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती तो देखो ना नतिकिता अनित्य जो वस्तु है अनित्य सुखात्मक जो खजाना है वही अनित्य द्वारा से प्राप्त होता है मैंने किया मैंने अनित्य द्रव्यों से ये जान करके भी कि अगर कितने लड़के की प्राप्ति नहीं होगी मैंने नाची मैं रहने का चयन किया और अनित्य द्रव्यों के द्वारा ये जमराज की पदवी प्राप्त की वो तो अंतर्करण शुद्ध हुआ जमराज पदवी प्राप्ति हुई मृत्यु रूप हो गए और इसके प्रभाव से बाद में तत्व हो गया उसको तो पहले से स्वीकृत जो कर रहे हैं है ना उसकी कमी करेगी ये बात ठीक है लेकिन आज ही तुम्हारे हृदय में जितना वैराग्य है तुम अग्नि विद्या का जो फल है उसको बिना अग्नि की आराधना किए हम देना चाहते हैं और तुम उसको लेना नहीं चाहते हो और हमने जो तो परिश्रम करके अग्नि की आराधना करके ये सब विषय प्राप्त किए हैं जो जब है हमारे अंदर इतना वैराग्य नहीं था इतना वैराग्य आज तुम्हारे अंदर है इसलिए हम तुमसे स्वतंत्र हैं कालस्यास्त्रिम जगत प्रतिष्ठा द्रवोरंत्यम अभयज्ञतारम पूर्ण महदाय प्रतिष्ठा दृष्टवा तृतीया दीनो नचिकेतो व्यत्राक्ष तुमने जहाँ काम की आपकी मानस समाप्ति हो जाती है जहाँ सारे काम सारे मनोरथ हमारे बाबा बाबा हमारे जब घर में किसी स्त्री पर नाराज होते थे घर में किसी स्त्री पर नाराज होते थे तब ये श्लोक बोलते थे क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण रुष्टी क्षण दुष्टी पता नहीं कब खुद कर नाराज है वाले खाने में रिश्ता रिश्ता हुए देखा है हाथ से आंसू हुए देखा है एक साथ कैसे पता चले कि हम उससे तो ये बात स्त्री की नहीं है वो अपने भीतर जो जिसको तस्वीर है उसकी ये दशा है जरा सी बात में खुश जरा सी बात में नाराजी कोई जिंदगी है न खुश का पता चले न नाराज का पता चले आज किसी से प्रश्न कर देना कि तुम बताओ कि तुम सुखी हो सरकार में कि दुखी हो तो आगे कोई जवाब नहीं दे सकता आगे कोई जवाब नहीं दे सकता और ऐसा भी है कि सवेरे पूछो तो तुम तरह जवाब दे दोपहर को पूछो तो तुम तरह दे शाम को पूछो तो तुम दे फिर मैंने कई बार एक बार कहते वाह हुआ हुआ आनंद आ गया दूसरी बार कहते हाँ हाँ जिंदगी करा के जिंदगी में तो एक ऐसा सत्य एक ऐसा यथार्थ का ज्ञान है कि मतवा धीरो हर्ष शोक जहादी यदि वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो धीर हर्ष हर्ष और शोक इन दोनों को केचुल की तरह दुनिया में छोड़ देता है ये आते जाते रहते हैं ये तो दुख कहा है तो मजा है जिंदगी का बोला जैसे आप कोई नाटक देखने जाए और उसमें गर्व रंग का बढ़िया नाटक आ रहा है तो आपको मजा नहीं आएगा बीच बीच में थोड़ी हंसी चाहिए वो आता है ना बीच बीच में हसी के विभूषण हो रहा करके बीच में हवा जाता है ये करना ही नहीं चाहिए इसमें प्यार होते हैं जबरत नहीं तो नाटक में अथवा चित्रशाला में जब हम जाते हैं और एक बार कहीं गए चित्रशाला देखने सचमुच चित्रशाला बड़ी बड़ी जो श्रृंगार व्यक्त करते प्रवेश है तो मन में ललित भाव का हुए है और जब भी रथ का चित्र देखा तो उत्साह आए इतने जब करो रथ का चित्र देखा तो आंख में आंसू आ जाए हाथ रथ का चित्र देखा तो हंसते हंसते बहुत खोज हो जाए काशी में भारत माता का मंदिर है डॉक्टर हनुमान दास के प्रयत्न से बना था पहले शिव प्रसाद मिश्र मनरेगा के जमाने में उसमें जागृत थे तो पराधीन भारत का मैं था वो पराधीन भारत और उसको देखें तो आंखों में आंसू आ लेकिन जैसे जब चित्रशाला से निकलते हैं या सिनेमा से निकलते हैं या नाटकशाला से निकलते हैं थिएटर से निकलते हैं तो ये आता है कि मजा आया सब तरह का रस लेकर के भी वहाँ मजा आता है रो के भी मजा आता है हंस के भी मजा आता है संज्ञासन के भी मजा आता है ये जीवन तो एक नाटक है जिसमें कभी हर्ष आता है कभी शोक आता है आप उस शब्द शब्द को उस आत्मा को देखो ना जो हर्ष के दृश्य को पार करता जा रहा है जो शोक के दृश्य को पार करता जा रहा है जिसके सामने हजारों रोने के मौके आए हैं मौके आए और जो का जो है सैकड़ों ब्याह हुए सैकड़ों बच्चे हुए सैकड़ों बार बेटा और सैकड़ों बार गया और सैकड़ों मौतें हुई और वो जो का जो है तो उसका पता लगाना चाहिए ना कि वो कौन है सब झेलता हुआ भी वो कौन है जो पहाड़ की चोटी की तरह शिकार की तरह उस त्रिकूट की तरह चित्रकूट की तरह चित्रकूट की तरह त्रिकूट की तरह कूदर बैठा है वर्षा आई हो गई गर्मी आई पड़ गई चारा आया चला गया और वो का उसका कौन है उसके ज्ञान से क्या होता है बंदर दर्शन दूध मनोप्रविष्टम गुहा हितम गर्भरेष्ठम पुराणम हरियात्म योगा हृदय

उनको तो नहीं मिलता हाय हाय हाँ, हम लोग घर चले थे नौ तो नदी पार कर जाए तो बसवा डूब गया बसवा डूब गया है या नहीं डूब गया है नहीं डूब गया है तो, तो दिखता क्यों नहीं फिर दिखेगा कैसे तो भाई वो तो तुम ही हो ना अपने आप पर नजर ही नहीं जाती है इसलिए दुर्दर्श हो गया है एक राजकुमार थे बड़े सुंदर उनको जवानी में ही वैराग्य हो गया किशोर अवस्था में तो उन्होंने साधु की जैन साधु की दीक्षा ग्रहण कर तो उन्होंने ये ग्रंथ लिया कि रोज दस आदमियों को जैन संप्रदाय में दीक्षित करके तब दीक्षा करेंगे तब भोजन करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे एक दिन एक बार ऐसा हुआ एक देशव्यापी गांव में उसके प्रति उनकी आसक्ति हो गई फंस गए अत्यंत आसक्ति हो गई और व्रत सब टूटने लगे परंतु उन्होंने एक नियम लिए रखा कि दस आदमियों को रोज जैन धर्म नहीं सकता नहीं तो खाना नहीं ऐसे जैन धर्म करता एक दिन क्या हुआ बहुत व्यक्तियों का तो जो उन्होंने जैन धर्म दीक्षित कर लिया दसवा नहीं मिला दसवा नहीं मिला वो वेश्या कहे कि भोजन करो वो बोले कि हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ हम भोजन नहीं करेंगे बातचीत कुछ ज्यादा रही जिसको जहां हाँ। अंत में उस वेश्या ने कहा कि तुम दसवें पुरुष को उद्धार करने के लिए ढूंढ रहे हो जैन धर्म में दीक्षित करने के लिए तुम अपने क्यों नहीं करते उठा तुम बदल हो ऐसे बोलिए तुम बदल हो बोले मेरा उद्धार क्या बाकी है मैं तो जैन धर्म में शिक्षित हो गया मेरा उद्धार हो गया मैं तो जैन धर्म में बता दिया वो बोले जब तुम्हारे अचानक दूषण दूर नहीं हुए तुमको त्रिरत्न की प्राप्ति नहीं हुई तुमको सतत चारित वो बोले कि जब तुम्हारे अचानक संस्कार दूर नहीं हुए तुमको त्रिरत्न की प्राप्ति नहीं हुई तुमको सम्यक चारित्र्य सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई एक विद्या के पास फंसे हुए हो और तुम दूसरों का उद्धार करने जाते हो क्या उद्धार करोगे तुम कर रहे हो अच्छा दशम सुमति की जो कहा है तो वो सरकार को उद्धार करते थे दस आदमियों का रोज उद्धार करते थे परंतु तो मेरा उद्धार अभी बाकी है ये चाले नहीं आता था तो ये मनुष्य का ध्यान रखते हुए कि ये दूसरे के बारे में चाहे जो कुछ जान ले चाहे जो कुछ बता ले चाहे जो कुछ कह ले है ना लेकिन अपने अपने बारे में ये बता सकता है हमारी आप ठीक देखती है कि नहीं हमारा काम ठीक सुनता है कि नहीं इसको मालूम है हमारे घर में क्या क्या आता जाता है कैसे भी मालूम है सबके बारे में पड़ोसी के कुत्ते के बारे में मालूम है उसके बहू के बारे में मालूम है उसके बेटी के बारे में मालूम है विरायत में जाकर उसने क्या किया ये मालूम है परंतु मैं कह रहा हूँ ये मालूम नहीं है ये बड़ा सुंदर है बड़े बड़ा बड़ा नशीन बोलता है इसको ये बड़ा नशीन है काम दूर शाम यथार्थ पदार्थ की ओर से अपनी वृद्धि को हटा रहे हैं और मैं गौर के लिए प्रश्न उठता है तब इसका ज्ञान होता है कुंड मन प्रवेश का गौर छिपा हुआ है पुराणम गौरवेशम पुराणम इस आत्मदेव को यदि जान लेना अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को जान लो तो ये संसार के जो हर्ष और शोक हैं वो तुमको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे अब इस मंत्र का जो अभिप्राय है ना वो कल सुनाएंगे एक सूचना ये